जब तुम दूर चले जा रहे थे और मुड़कर किसी एक को भी ना देखते थे और रसूल तुम्हें तुम्हारी पिछली जमात में पुकार रहा था तो उसने बदले में तुम्हें गम के साथ और गम दिया ताकि तुम उस पर गम न करो जो तुम्हारे हाथ से निकल गया और ना उस पर जो तुम्हें मुसीबत पहुंची और अल्लाह ताला पूरी खबर रखने वाला है उसकी जो तुम अमल करते हो